एहि विधि करत पञ्चपक्षिताबिर सुरथ रथयाबा मिला किये करी विनय विषाद हरि बिनयन सार फिर पाय परी दिकल विसार बैठत नगर सचिव सकुच जनुमार श्री गुरु बाभन तपतर दिव सुगमावा समय तब अवसर पावा सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सचकाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेशो धिया रे बन रथु राख दुआरे जिन जिन समाय चार सुन पाए द्वार रथ देख नया रथ पहचाने दिकल लख घोरे करहि गात जेबी आत रे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मिनगन जैसे अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं छील हो रहे हैं जैसे घाम में ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं सचिव आगमन सुनत सब विकल भय रनिवासु भवन कर लागत हे मानहु प्रेत निवासु मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो अति आरती सब पूछ उतरन आय भई बाणे सुनहिन श्रवण नयन नहीं सोजाम कहु कहानी निप तेहि तेहि बोया दासिन देख सचिव बिकलाए कौशल्या गृह गए लबाए जाय सुमन्त्र देख कस राजा अमिय रहित जनु अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता उनकी वाणी विकल हो गई रुक गई है न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है वे जो भी सामने आता है उस उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो आसन शयन विभूषण हेना अमीय रहित असन शयन विभूषण हेना परभोमि तट निपट मने नाम ते जे उसु सोचयसि भाते सुरपुरते जन हसे जजाति लेत सोच भरे जनु जरि पङ्ख पर उपाति राम राम कह रामनेहि कह राम लखन वै दे राजा आसन सैया आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं देख सचिव जय देव कहे किन्ह उदंड प्रणाम सुनत उठ व्याकुल निपते कह सुमंत्र कह राम मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है